पहे राम वियोग तव सीता मोकु सकल तरु सलय मनहु कृ सानु कालनिशम निशिषसि कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जन बरिषा ये हित रहे करत तय पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा हनुमान जी बोले श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान रात्रि कालरात्रि के समान चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीले और गर्म हो गई हैं कहे होते कछु दुख घटी हो ये काहि कहो यह जानन को तत्व प्रेम कर मम अर तोरा जानत प्रिया कुमन मोरा मन सदा रहत तुहि प्रीति रस प्रीतिरस एतनहि महे प्रभु सन्देश सुनत वै मगन प्रेम तन सुधि तेहि मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं हे प्रिय मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई उन्हें शरीर की सुध न रही कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिर राम सेवक सुखदाता उरयानहु रघुपति प्रभुताए सुनि मम बचन तजहु कदराई हनुमान जी ने कहा हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो निशर निकर पतंग सम रघुपति बानक किसान जनने हृदय धीर धरू जरे निशाचर जानु राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो जो रघुबीर हो तुधि पाए करते नहीं बिलम्बुर घुराए राम बान रवि उवे जान के तम बरूथ कह जातु धान के अब हिमा तुम जाऊलवाए प्रभु आय सुन राम दोहाए कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित हैं रघुबीरा श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते हे जानकी जी राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है हे माता मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है अतः हे माता कुछ दिन और धीरज धरो श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे